नाइट एक वक्त का किस्सा है कैपलॉन की अजीम सल्तनत में बादशाह डस्टा की हुकूमत थी बादशाह डस्टा की सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम था रेचल वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थी जो कोई भी उसे देखता उसे यही ख्याल आता कि वो भी बड़ी होकर अपनी अम्मी की तरह खूबसूरत और दिलकश निकलेगी जिसका उसके पैदा होते ही इंतकाल हो गया था शहजादी रेचल अक्सर अपनी अम्मी को याद करती और बादशाह को इसका एहसास था इसके लिए वो गमजदा रहता एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के महल के करीब ही एक रईस खातून रहने के लिए आई जिसका नाम था लेडी ट्रिश और उसकी छोटी बेटी वोंटा वोंटा शहजादी रेचल की हम उम्र थी शहजादी रेचल और वोंटा जल्दी ही सहेलियां बन गई और लेडी ट्रिश अपना ज्यादा वक्त महल में गुजारती इन दोनों की निगेवानी करते हुए जब वो खेल में मशगूल होती लेडी ट्रिश शहजादी पर बहुत मेहरबान थी और हमेशा उससे मोहब्बत भरा सुलूक करती थी शहजादी रेचल और वोंटा साथ साथ खेलती थी और एक साथ जवान हुई शहजादी की जिंदगी में सब कुछ सही सलामत था पर एक दिन जब वो सल्तनत के बागों में सैर कर रही थी सफर के लिए तैयार लेडी ट्रिश उसके पास आई आप कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? अलविदा मेरी बच्ची मुझे तुम्हें छोड़कर दूर जाना होगा क्या हाँ अब आप वापस कब आएंगी मुझे लगता है कभी नहीं नहीं मेहरबानी करके मत जाइए आपके बिना मैं क्या करूंगी तुम्हें छोड़कर जाते हुए मेरा दिल भी टूट रहा है मेरी बच्ची पर मुझे जाना होगा क्या कोई तजबीज नहीं जो आपको यहाँ रख सके सिर्फ एक है और वो नामुमकिन है बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नामुमकिन नहीं होता मुझे बताइए कि बात क्या है मैं आपकी इच्छा पूरी करवाऊंगी मैं तभी रुकूंगी जब तुम्हारे वालिद मुझे मलिका बनाएंगे लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे बस इतना ही ये मुझ पर छोड़ दीजिए हो जाएगा शहजादी रेचल फौरन अपने वालिद के पास गई अब्बा मैं आपसे मांगने आई हूँ कि आप लेडी ट्रिश से निकाह कर लें। यदि आपने नहीं किया तो वो हमें छोड़कर चली जाएंगी तब एक मरतबा फिर मैं माँ की मोहब्बत से महरूम रह जाऊंगी मेहरबानी करके उनसे निकाह कर लें अब्बा मुझे वो बहुत अजीज है बादशाह डस्टर का रंग पीला पड़ गया जब उसने ये सुना वो काउंटेस को पसंद नहीं करता था और उसे निकाह नहीं करना चाहता था लेकिन उसने अपनी मरती हुई बीवी से वादा किया था कि वो हमेशा वही करेगा जो उसकी बेटी उससे करने को कहेगी मेरी बच्ची मैं उससे निकाह नहीं करना चाहता लेकिन अगर यही तुम्हें खुशी देता है तो मैं राजी हूँ अब तो खुश होना शहजादी रेचल बेइंतहा खुश हो गई बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जान आप सबसे अजीम हैं। इसके फौरन बाद निकाह बहुत शान शौकत से हुआ और काउंटेस मलिका बन गई पर जब महल खुशियों से सराबोर था तो उस दौरान बादशाह बहुत मायूस लग रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि इस निकाह का अंजाम अच्छा नहीं होगा और वही हुआ बहुत थोड़े वक्त में ही शहजादी की जानिब लेडी ट्रिश का रवैया बदलने लगा वो उससे हसद रखती थी क्योंकि बजाय उसकी अपनी बेटी के वो तख्त की वारिस थी जल्दी ही उसके असली रंग नुमाया होने लगे बजाय शहजादी से मोहब्बत और रहम से गुफ्तगु करने के उसके अल्फाज करख्त और बेरहम हो गए ये बहुत उम्दा ड्रेस है जो तुमने पहनी है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे फौरन वॉन्टा को दे दो पर अम्मी मुझे ये ड्रेस बहुत अजीज है मुझे परवाह नहीं मैं मलिका हूँ ये मत भूल जाना अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ हर गुजरते दिन के साथ शहजादी के जानी मलिका का रवैया और बदतर होता चला गया जल्द ही ये सब शहजादी से बर्दाश्त नहीं हो पाया वो पूरा दिन मायूस और परेशान अपने कमरे में रोती रहती बादशाह बहुत नाखुश था अपनी अजीज बेटी के इस तरह के गम को देखकर और वो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो उसने झील के जजीरे के पास एक महल तामीर करवाया ये लो तुम्हारा अपना खुद का महल यहाँ खुशी खुशी रहो अपनी सौतेली अम्मी से दूर यहाँ तुम जो चाहो कर सकती हो और मैं इस बात को पक्का कर लूंगा कि तुम्हारी सौतेली अम्मी इसमें कभी दाखिल ना हो बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जान वादा कीजिए कि आप मुझसे हर दिन मिलने आएंगे बेटा इसमें कहने की क्या जरूरत है शहजादी ने अपने वालिद को गले लगाया बहुत लंबे अरसे तक वो सुकून से रही और हर रोज और ज्यादा खूबसूरत बनती गई एक दिन साथ की सल्तनत से एक पैगाम आया बादशाह डस्टर के पास नाइट्स और नोबल्स के बहुत बड़े जलसे में शिरकत करने के लिए बादशाह डस्टर ने न्योता कबूल किया निकलने से पहले वो अपनी बेटी से अलविदा कहने गया मेरी बेटी मैं नाइट्स और नोबल्स के एक बहुत ही बड़े सम्मेलन में जा रहा हूँ वहाँ बहुत ही शानदार दुकानें सजी होंगी खासकर तुम जैसी शहजादियों के लिए क्या मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बाजान अगर मेरी तरफ से आप ग्रीन नाइट को खुशामदीद कहेंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी आ, आ, हाँ बेशक मेरी बेटी मैं ये करूँगा बादशाह डस्टर ने कभी ग्रीन नाइट के बारे में नहीं सुना था लेकिन सवाल पूछने का वक्त नहीं था इसलिए उसने वादा किया और घोड़े पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ा अपने सफर के दौरान वो जिससे भी मिला उससे ग्रीन नाइट की बाबत दरियाफ्त किया क्या तुम ग्रीन नाइट को जानते हो पर हमेशा जवाब इनकार में ही मिलता बादशाह डस्टर ये यकीन कर गया कि उसकी बेटी को ग्रीन नाइट के वजूद के बारे में कोई गलत फहमी हुई थी वो बहुत मायूस हो गया क्योंकि पहली मर्तबा ही उसने उनसे अपने लिए कुछ करने को कहा था और वो ये नहीं कर सकता था वो बहुत ज्यादा इसके मुतालिक सोचने लगा कि उसने इस पर गौर नहीं किया कि उसका घोड़ा किस जानी जा रहा है हालिया हालात ये थे कि उसने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया जहाँ वो इससे पहले कभी नहीं गया था वो सवारी करता रहा करता रहा रास्ते की तलाश में आखिरकार उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने एक इंसान को देखा वो उस तक गया मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कहाँ हूँ आप ग्रीन नाइट के जंगल में हैं। बादशाह डस्ट अब बहुत खुश हो गया ग्रीन नाइट कहाँ रहता है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है उस शख्स ने उसे रास्ते का पूरा नक्शा समझाया बादशाह डस्टा ने उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार निकल पड़ा आखिर में वो एक बहुत खूबसूरत महल में पहुंचा जो एक बहुत ही खूबसूरत बाग के बीच खड़ा था जहां संगे मरमर के हौज के फवारे चल रहे थे हौज के किनारे एक बहुत ही नौजवान और खूबसूरत शख्स बैठा था जो सिर से पांव तक हरे रंग का बख्तर बंद पहने था बादशाह डस्टर उसके पास गया तुम यकीनन ग्रीन नाइट ही हो हाँ वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा हरा रंग पहनता हूँ पर मेरा असली नाम है यूजीन मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश लिया मैं नाइट्स और नोबल्स के एक बहुत बड़े जलसे की तरफ जा रहा था पर तुम्हारे महल को ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया आप मुझसे क्या मांगने आए हैं हुजूर? खैर मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें खुशामदीद कहने आया हूँ मैं इससे पहले कभी आपसे और आपकी बेटी से नहीं मिला पर आपका इस्तेकबाल है आप रात भर के लिए मेरे महल में रुक सकते हैं सूरज गरूब होने वाला है ऐसे में आपको जंगल से गुजरने का मशविरा देना मुनासिब नहीं होगा बादशाह डस्टर ने शुक्रिया अदा किया और ये न्योता कबूल फरमाया अगली सुबह जब बादशाह डस्टर घर जाने के लिए अपना सफर शुरू करने वाला था शहजादे यूजीन ने उसके हाथ में एक जवाहरात का डिब्बा दिया बादशाह सलामत अपनी बेटी के लिए तोहफा ले जाइए इसमें मेरी तस्वीर है और जब मैं उनसे मिलने आऊंगा तो वो मुझसे वाकिफ होंगी मुझे यकीन है कि वो वही खातून हैं जिन्हें मैंने अपने ख्वाबों में हर रात देखा है मुझे अपनी बेगम बनाने के लिए उनका दिल जीतना होगा बादशाह ने नाइट को अपनी दुआ दी और उससे वादा किया कि वो ये तोहफा अपनी बेटी के लिए ले जाएगा तोहफा लेकर वो निकल पड़ा जब वो अपने महल में पहुंचा, शहजादी रेचल उसकी तरफ दौड़ी आई क्या आप ग्रीन नाइट से मिले हाँ मैं मिला और उसका असली नाम है शहजादा यूजीन शहजादा यूजीन वाह उसने मुझे तुम्हें ये तोहफा देने को कहा है ताकि जब वो यहाँ आए तो तुम उसे पहचान सको जब शहजादी ने तस्वीर देखी वो बहुत खुश हुई यकीनन ही ये वो शख्स हैं जिसे मैंने अपने ख्वाबों में देखा है अब्बा मैं इसके अलावा किसी से निकाह नहीं करूंगी ठीक है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है मेरी अजीजा पर मैं मशवरा दूंगा कि तुम पहले उससे मिलो इस बात पर तवज्जो देना कि तुम्हारी सौतेली अम्मी को इस बात का इल्म ना हो इसके बाद जल्दी ही शहजादा युजिन आ पहुंचा और वो अपने हरे बख्तरबंद में इतना खूबसूरत और बांका लग रहा था शहजादी को उससे और ज्यादा मोहब्बत हो गई जब उसने उसे देखा तब उसने पहचान लिया कि वो वही खातून थी जिसे वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखा करता था उसने फौरन उससे अपनी बेगम बनने को कहा क्या तुम मुझसे निकाह करोगी शहजादी ने नजरें झुकाई और मुस्कुराई हाँ उन्होंने एक दूसरे को आगोश में लिया तभी शहजादी रेचल को अपने अब्बा का मशविरा याद आया पर सुनो हमें इसे राज रखना होगा अपनी सौतेली अम्मी से निकाह के दिन तक वरना वो हम सबको बर्बाद करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगी जैसी तुम्हारी मर्जी पर अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता निकाह के दिन तक मैं हर दिन तुमसे जरूर मिलूंगा मैं सुबह सवेरे ही आ जाया करूंगा और अंधेरा होने पर जाऊंगा इस तरह से तुम्हारी सौतेली अम्मी हमारे मुतालिक जान नहीं पाएंगी अगले कुछ दिनों तक शहजादा यूजिन हर दिन शहजादी से मिलने आता और उसके साथ बहुत घंटे बिताता उन खूबसूरत बगीचों में घूमते हुए जहाँ उन्हें इल्म था कि मलिका उन्हें नहीं देख सकती थी एक दिन एक लड़की जो सुबह सवेरे झील के साहिल पर घूम रही थी उसने देखा कि शहजादा कश्ती खेते हुए शहजादी रेचल के महल पहुंचा, जहां वो उसका इंतजार कर रही थी वो फौरन ही मलिका के पास पहुंची और सब कुछ बताया मलिका तैश में आ गई अगले दिन सुबह मलिका झील के साहिल पर पहुंची अपने हाथ में तिलिस्मी खुराक की एक बोतल लिए और खुद को उसने दरख्तों के पीछे छिपा लिया हमेशा की तरह शहजादा यूजीन आया पूरा दिन उसने शहजादी रेचल के साथ बिताया और जब वो करीब करीब सूरज गुरूब हो रहा था तो वो साहिल पर आया और कश्ती में बैठा इससे बेखबर कि मलिका ने चप्पू के हत्ते पर तिलिस्मी जहर के खुराक का लेप कर दिया है उसने इसे पकड़ा और खेने लगा ये इतना गर्म है पूरी हथेली पर लगे तिलिस्मी जहर के खुराक के लेप के साथ शहजादे यूजीन ने अपनी पेशानी पोछी जहर जैसे जैसे उसके जिस्म के साथ मिला उसे आहिस्ता आहिस्ता हरे रंग में तब्दील करने लगा जब शहजादा यूजीन अपने महल में पहुंचा, उसकी तबीयत नासाज हो गई। अगले कुछ दिनों तक शहजादी रेचल शहजादा यूजीन के लिए तड़पती रही पर वो नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था पर उसे इसका इल्म नहीं था उसे निहायत बेकशी का एहसास हुआ क्योंकि उसके वालिद भी सल्तनत से बाहर थे दूसरे बादशाहों से मिलने गए थे तिजारत के सिलसिले में वो खुली खिड़की पर बैठी थी रोती हुई और बहुत ही उदास महसूस करती हुई तभी एक छोटी सी चिड़िया आई और उस दरख्त की टहनी पर बैठ गई जो उसके बिल्कुल नीचे थी तुम्हारा शहजादा बीमार है तुम्हें फौरन उसके पास जाना चाहिए क्या उसे क्या हुआ है तफसील के लिए वक्त नहीं है बस ये समझ लो कि तुम्हारी सौतेली अम्मी ने उस पर तिलिस्मी जहर की खुराक इस्तेमाल की है और सिर्फ तुम्हारे बाप की पीली जड़ी बूटियाँ ही उसे शिफा दे सकती है मेहरबानी करके मुझे कुछ और बताओ मुल्क के बादशाह की तरफ ऐसी खुद को एक नर्स के भेज में तब्दील करो इस तरह ऐसी तुम शहजादे के पास जा सकोगी पीली जड़ी बूटियों का एक सूप बनाओ और उसे पिलाओ जब वो पूरा प्याला खत्म कर लेगा तो उसे फौरन शिफा मिल जाएगी अगले दिन शहजादी रेचल रवाना हो गई नर्स के लिबास में अपने साथ पीली जड़ी बूटियां लेकर चिड़िया उसके आगे आगे उड़ती गई उसकी महल की तरफ रहनुमाई करते हुए और जब वे महल में पहुंची शहजादी रेचल फौरन शहजादी की सबसे भरोसेमंद बूढ़ी नर्स के पास गई मोहतरमा मेरा नाम फ्योना है और मुझे मुल्क के बादशाह ने भेजा है शहजादे को शिफा देने के लिए और तुम उसे कैसे करने का इरादा रखती हो जबकि हमारे सबसे आला हकीम नाकामयाब रहे ये खुराक बहुत जानलेवा है और ये कहते हुए मेरा दिल पसीज रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं ओह पर मैं कर सकती हूँ आप देखना मेरी जड़ी बूटियों के सूप से शहजादे को फौरन शिफा मिल जाएगी और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ क्या आपके पास कोई और चारा है बूढ़ी नर्स ने सोचा कि इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं वो राजी हो गई ठीक है तुम सूप लेकर शहजादे के कमरे में जा सकती हो शहजादी रेचल ने बीमार शहजादी को अपने हाथों से खिलाया सूप का पूरा प्याला खत्म कर लेने के बाद वो बाहर गई और कुछ देर इंतजार किया जल्दी ही शहजादे यूजिन को पसीना आने लगा और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह ठीक हो गया जब उसकी जाग खुली शहजादी रेचल ने एक जवान नर्स को अंदर भेजा उसके हाथ में खाली सूप का प्याला देकर तुम कौन हो क्या तुमने ही वो सूप बनाया था जिसने मुझे ठीक किया जी खैर इनाम के रूप में तुम जो चाहो वो मांग सकती हो तुम्हें दिया जाएगा जवान नर्स को पहले से ही शहजादी रेचल ने सिखा दिया था क्या कहना है मैं आपकी बेगम बनना चाहती हूँ मुझे माफ करना पर वो एक ऐसी शह है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मेरा दिल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के पास है और वो मेरे लिए इंतजार कर रही है अपने जजीरे वाले महल में ये सुनते ही शहजादी रेचल शहजादे के कमरे में दौड़ी गई और उसे कसकर आगोश में भर लिया जवान नर्स मुस्कुराई और चली गई शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ पर उलझन में पड़ गया ये क्या हो रहा है शहजादी रेचल ने उसे हर बात समझाई कि कैसे ये उसकी सौतेली अम्मी थी जिसने जहर की खुराक इस्तेमाल की थी उसे बीमार करने के लिए आ, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बचा लिया मेरी अजीजा मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो दोनों ने हाथ पकड़े और एक मर्तबा फिर एक दूसरे को आगोश में भर लिया जल्द ही उनका निकाह बहुत शानो शौकत से हो गया बादशाह डस्टर अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत खुश हुआ और जहाँ तक मलिका और उसकी बेटी का सवाल था उसने उन्हें सल्तनत के बाहर निकाल दिया और उन्हें आगाह किया कि वो फिर कभी उसकी इस सल्तनत में कदम न रखे शहजादा यूजीन और शहजादी रेचल अपने उस जजीरे वाले महल में रहने लगे और साथ ही वो बादशाह डस्ट की मदद करने लगे उसकी हुकूमत चलाने के लिए उनका इख्तियार में सल्तनत की रियाया बहुत खुश थी